Your Holiness, ladies and gentlemen, we feel really blessed that this afternoon we are performing music in the presence of His Holiness, Divine Presence. It is a great privilege. And you, as probably know, everybody knows, none other than His Holiness Himself has done so much to promote Indian music. There's hardly any musician of repute from India who hasn't performed in his presence. And uh, I think we, you are blessed, we feel blessed in his presence. Sadhguruji Maharaj or और भाई और बहनों हमारे लिए बहुत ही ये कृपा का मौका है बहुत ही प्यारा संगम है कि सतगुरु जी महाराज की पावन हजूरी में हम ये संगीत का छोटा सा कार्यक्रम सुनने जा रहे हैं और इनकी बड़ी कृपा है कि इन्होंने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से ये टाइम निकाला है निकालना भी चाहिए क्योंकि जितना म्यूज़िक के लिए उन्होंने किया किसी ने नहीं किया भारत में हर शायद ही कोई संगीतकार हो जो इनके सामने अपना संगीत का प्रदर्शन नहीं कर पाया और डांसर हो म्यूजिशंस हो हर एक का इन्होंने प्रोत्साहन किया है अगर मैं नाम लेने जाऊं तो पंडित रविशंकर से लेकर उस्ताद विलायत खान कृष्ण महाराज बिरजू महाराज जी मैं तो बहुत से नाम भूल जाऊंगा इतने लोगों ने इनके सामने परफॉर्म किया है तो मैं आप सबकी तरफ ओर से और संगीतकारों की ओर से इनका आभार प्रकट करता हूँ कि इनकी मौजूदगी में इनके दर्शन करते हुए हम संगीत सुनेंगे तो सदगुरु जी मैं छोटा सा संक्षिप्त परिचय मैं इनका दे दूं सबका ताकि आप आशीर्वाद इनको मिल जाए ये डेविड कॉटनी है ये पखावजी भी सीख चुके हैं और तबला सीख चुके हैं तबला इन्होंने जाकिर हुसैन साहब से सीखा है और पीएचडी हैं संगीत के और गस बसबी जो हैं ये हर प्रकार का म्यूज़िक जानते हैं जाज ब्लू वगैरह अब बहुत प्रभावित हो के अब इनके साथ बजा रहे हैं रॉबर्ट गोल्ड मैन उन्हें पंडित पन्नालाल घोष को सुनने के बाद बंसी वादन हिंदुस्तानी का सीखना शुरू किया और श्रीनिवास कौमोन्द्री सितार वादक हैं बड़ा अच्छा सितार बजाते हैं और चंद्रकांत कौटनी जो बचपन से ही संगीत में है और बहुत ही प्यारी आवाज़ है तो आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए क्योंकि सतगुरु जी के पास बहुत थोड़ा समय है तो सुन लें बहुत आपका आभार थैंक यू